रहे हैं वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बिना कायम किया जो तुमको नजर आते हों फिर वो अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुआ और उसने सूरज और चांद को एक नियम का पाबंद बनाया इस सारी व्यवस्था की हर चीज एक निश्चित समय तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही इस सारे काम का नियंत्रण कर रहा है वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है शायद कि तुम अपने रब से मिलन का विश्वास करो और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है इसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ रखे हैं और नदियां बहा दी हैं उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं और वही दिन को रात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 हैं अंगूर के बाग हैं खेतियां हैं खजूर के पेड़ हैं जिनमें से कुछ इकहरे हैं और कुछ दोहरे सबको एक ही पानी सिंचित करता है मगर स्वाद में हम किसी को बहुत अच्छा बना देते हैं और किसी को उससे कम इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं अब अगर तुम्हें आश्चर्य करना है तो आश्चर्य के योग्य लोगों का ये कथन है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई है ये वे लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं ये जहन्नमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं हालांकि इनसे पहले जो लोग इस नीति पर चले हैं उन पर खुदा के अजाब की शिक्षा प्रद मिसालें गुजर चुकी हैं सच ये है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद इनके साथ माफी से काम लेता है और ये भी सत्य है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं कि इस व्यक्ति पर इसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों न उतरी तुम तो सिर्फ सावधान करने वाले हो और हर कौम के लिए एक मार्गदर्शक है आलिमुल गैब वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल सवाउन من أسر القول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 करे या धीरे से और कोई रात के अंधेरे में छिपा हुआ हो या दिन के उजाले में चल रहा हो उसके लिए सब समान है हर व्यक्ति के आगे और पीछे उसके नियुक्त किए हुए निरीक्षक लगे हुए हैं जो अल्लाह के आदेश से उसकी देखभाल कर रहे हैं सच ये है कि अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वह खुद अपने गुणों को नहीं बदल देती और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई समर्थक और सहायक हो सकता है ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من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 है ठीक उस हालत में गिरा देता है जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं वास्तव में उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है उसी को पुकारना सत्य है रही वे दूसरी हस्तियां जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं वे उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकती उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति पानी की ओर हाथ फैलाकर उससे निवेदन करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा हालांकि पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं बस इसी तरह अधर्मियों की दुआएं भी कुछ नहीं है मगर एक तीर बिना निशाने का वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज स्वेच्छा पूर्वक और विवशता पूर्वक सजदा कर रही है और सब चीजों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 ही झाग उन धातुओं पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन आदि बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं इसी मिसाल से अल्लाह सत्य और असत्य के मामले को स्पष्ट करता है जो झाग है वो उड़ जाया करता है और जो चीज इंसानों के लिए लाभदायक है वो जमीन में ठहर जाती है इसी तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है जिन लोगों ने अपने रब का आमंत्रण स्वीकार कर लिया उनके लिए भलाई है और जिन्होंने उसे स्वीकार न किया वे अगर धरती के सारे धन के भी मालिक हों और उतना ही और ले आए तो वे अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए उस सब को अर्थदंड यानी फिदिया के रूप में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे ये वे लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और इनका ठिकाना जहन्नम है बहुत ही बुरा ठिकाना